दोनों ने कहा हमारे परवरदिगार हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती न करे या कहीं सरकशी पर आमादा न हो जाए